उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ये बयान करे कि उसका रंग कैसा है मूसा ने कहा बेशक अल्लाह फरमाता है बिल तहकीक वो चमकदार जर्द रंग की गाय है जो देखने वालों को अच्छी लगती है